गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन अभी आपने सुना कि सतगुरु बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की वाणी का पाठ बहुत पुनकर्मी जीव के घर में हो से और जिसके घर में सतगुरु की वाणी का पाठ और पूरे यानी अधिकारी के द्वारा किया जावे यानी जो करने का अधिकारी हो उसके द्वारा जो पाठ किया जाता है किसी भी शास्त्र का वो ज्यादा लाभ देता है आम व्यक्ति अपनी मर्जी से कितना पाठ कर ले तो सतगुरु की मर्यादा भंग होती है पूरा लाभ नहीं मिलता तो जहां सतगुरु महाराज की वाणी के पाठ का आपको प्रमाण हमेशा देंगे कि आप हैरान रह, जाते रह जाओगे के के के सुख हुआ जिस भी घर में सतगुरु की वाणी का पाठ हो गया और कितना फिर उनका जो धन व्यय होया करता कोई बीड़ी पी हुआ था कोई शराब पी हुआ था कोई मांस हुआ था सुल्फे अफीम तक के आदि हो चुके थे परिवार और उनको कितना घर में दुख था शरीर में कष्ट था पशुओं में पूरा लाभ नहीं मिला था कि तो मुकदमे हो रहे थे को रिश्तेदारा बिगड़ रही थी को छोरी छोड़ रखी थी के, के मुकदमे हो पाए बेचारे के घर में किसी की बहुत छूट रही थी ऐसे ऐसे प्रमाणित है कि उनको वो उद्देश्य लेकर उन्होंने नाम लिया कि मेरा न हो जाए हफ्ते पहले उसका वो काम हुआ कति प्रमाणित नाम से बता सकते हैं और यहां भी आए हुए भगतन तो इतना इतनी अजब शक्ति है सतगुरु में पर अज्ञ कैसे प्रसारित होती है जैसे सही ढंग से जो उसका संत मिल जाए इनको उनके माध्यम से अपना काम आगे चलाते हैं नहीं तो बंदी छोड़ने ढाई सौ पौने तीन सौ वर्ष हो गए थे इस वाणी को चलते को और हरियाणा में नो भी नहीं जाना थे कि गरीब दास हो से कौन और जाड़े लानिया के नाम पा जाए फलाना संत से पर इस परमात्मा का नाम कितना नहीं पाया कि गरीब दास भी कोई संत से तो अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा और इतना सुख देवे और इसकी जानकारी जब हुई आज वो <clears throat> कम से कम सौ से भी ज्यादा अधिक गांव में आज बंदी छोड़ के अंश ढूंढ लिए ना अपने हो सकता वो चौसठ लाख बिद के थे ढूंढ लिए हो कूद गए थे महाराज की को कीता गिर रखा था को कीता अपने सारे काट लिए बंदी छोड़ना घूम भरवा गए महाराज कैसे था उसने क्या कड़े हैं जैसे कुएं बाल्टी पड़ जा <clears throat> और नेजू बांध कर उसका वो पांच सात कड़े से गाल दिया कर कुंडे से भाई जो सा मारा होगा वो तो फंस जाएगा बाकी दोहरे के कट जाएगी वह वाणी जिसका लगनी है वह लग जाएगी और ये है कि गांव में सारे गांव नहीं हो सकता जो आप अपने थे वह तकरीबन सौ जिंदा आगरे से और आज प्रमाण हो गया कि सौ गांव में छह भी ज्यादा और भाई कम से कम एक गांव में सौ सत्तर सौ सत्तर के आसपास संगत भी है हो चुकी है तो देख लो दो ढाई साल लगभग हुए हमने महाराज के उपदेश देने के हुक्म दिए दिया था मेरे गुरु जी ने और इसके परिणाम स्वरूप आज आठ नौ हजार संगत दो ढाई साल में हो चुकी है इनका आप हैरान रह गए होंगे कि छुड़ानी के मेले पर वहां पर प्रबंधक जो थे प्रबंधकों ने सेवकों ने इस हिसाब से भोजन तैयार कर रखा जैसे आम मेले को आ करता कि इतनी संगत आया करे खरीद के इतनी पहुंच गई कि वो भोजन भी भंडारा कर टूटा तो नहीं करता पर समय नहीं रहा लोगों ने खाने का बिना खाए आगे टाइम नहीं लाइन लगी नहीं नंबर नहीं आके मैं खा लू भंडारा तो भरपूर था बंदी छोड़कर पर जल्दी के हमारे कम से कम भी काफी संगत बताने लगी तो वहां सेवा कर रही थी बेचारी वो भी नहीं बोल लिया हम टाइम तो, तो मिलाना अपना नवे का आगे आगे और अच्छा प्रबंध किया जाओगा तो अब ये था कि उन्होंने उसी हिसाब से कर लिया था रिब का संगत होगी अरुण हजार में फर्क पड़ जाए पांच सौ सौ आदमियों का खाना हो अरुण सौ और आ जा तो बहुत मुश्किल हो जाए कर दस पांच ने टिका दिया कर और ये होगी कम से कम भी पिछले ढाई तीन हजार थे पिछले मेले पर उससे अगले पर मेरे ख्याल चारे चारे उस पर आदमी वाले तो ज्यादा जानती भी नहीं संगत बारिश की वजह से अरे वो जो बाकी रह रहे थे इनका सारे गए चल इस पता भी लाकावा तो वह सात आठ हजार नौ हजार तकरीबन सारे पहुंच गए और इतने में वहां मेले में पाटे करने जगह नहीं थी तो ये है सतगुरु की वाणी का उनकी अपनी रजा और शक्ति का प्रमाण और हम कुछ नहीं कर सकते उन्हीं की रजा तो अब ये बताया कि जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता करोड़ तीर्थ अड़सठ तीर्थ पर जाने के लिए घूमने के लिए छह महीने और चालीस हजार रुपये लग गए क्योंकि कई ज्यादातर लोग पैदल जाकर राजी हुआ कर और या फिर अपनी पर्सनल ले जा सौदा तो और ज्यादा पैसे लग जाए और उनका फल बता दिया कि घर में एक कबीर अपने साधु को संत को रोटी खवा दे अड़सठ तीर्थ का फल मिल जाए और यहां बिराना कितने संत खा के ना जिसका पाठ हो सके तो इस प्रकार महाराज के अड़सठ का फल एक है द्वारा संत जमाया तो करोड़ तीर्थ का फल वो पाता सुख सागर में हरदम नाता वो आत्मा मलमल धोए फिर उनका सुख हो जाए जो काम कदे भी नहीं श्रया करते वो फटाफट होने शुरू हो जाते हैं अब ये वर्णन ये आप हमारे भगत से ऊर्जा की बता सकते हैं जनाब को कि हमारे पास क्या क्या सुख हुआ कितना कितना हमें आनंद आया फिर बता कि पांचों यज्ञ वाणी में चलती है आप एक बार ये वो जोत जग है उसको ध्यान से लीजिए एक वहां धूप है वो बक्सा से हटा दियो थोड़ा रेशन वह धूप दिख जाओ वो तो टंगी हुई से बिना बग दी तो वो देखियो आप तो ये सामने आप देखोगे महाराज की अखंड वाणी जब होती है एक देसी घी की जोत जगाई जाती है ये आप सामने देख रहे हो एक कुंभ लाल वस्त्र है वस्त्र चाहे किसाए हो लाल हो चाहे पीड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ढकन खातर उसे वो ढक रखा है और इसके ऊपर एक कच्चा नारियल रखा हुआ है इस मटके के अंदर हम पानी भरते हैं आम लड़के का जैसे यहीं से भरा था और इस इस मटके के पानी को जल को एक तरफ तो गंगा जल बरका दर दियो शिशी में और एक तरफ ये पूरा पाठ में पाछा इस जल को बरका दर देना आप देखना कि कौन सा जल खराब होता है और जहां आपको कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो इस जल को घूट पी कर देखना एक तुरंत फैसला देता है अर्थात बंदी छोड़ की वाणी में वो शक्ति इसको अमृत बना देता है इस जल को और ये जो है सामने जोत लग रही है देसी घी की अखंड जोत 48 घंटे चलती है उधर देखिएगा वो धूप जग रही है जो धागे से लपट लपेट के वो सामने कोने में वो धूप जग रही है ये 48 घंटे अखंड चलती रहती है और मंत्र पाठी पढ़ते रहते हैं सतगुरु की वाणी का आपको उस दिन भी बताया था कि वाणी यानी शब्द शक्ति चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो चाहे लोकल भाषा में अपनी मातृभाषा में किसी में भी संत बोल दे उसका उतना असर होया करे अब जैसे आपको बताया कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा ने कह दे हिंदी अपनी हिंदी ना आती अनपढ़ भी राजा हुआ करते और वो कह देते जाओ भाई फलाने का काम कर दो तो उसने संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं वो काम हो जाया करता उसकी शब्द में शक्ति है ना कि भाषा में भाषा में शक्ति शब्द से बनी उसमें शक्ति है वह उस भाषा के माध्यम से वहां आई तो यहां महाराज कहते हैं कि गरीबदास महाराज अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा है और इनकी जो शक्ति है अपनी भाषा के माध्यम से प्रवचन जो हो रहे हैं ये अपना मंत्रों का काम करती है ये अड़तालीस घंटे अखंड चलते रहते तो इस प्रकार बताया कि पांचों यज्ञ बाणी में चलती है धर्म धर्म यज्ञ आपने देखा होगा प्रसाद बांटा जाता है भोजन खिलाया जाता है कोई भी खील का हलवे का जैसा कि सवा किलो घी का प्रतिदिन कड़ा बनाया जाता है हलवा बनाया जाता है और बांटा जाता है और यहां पर बड़ा समागम है इसमें कई किलो घी का बनता है और हमारे धाम छुडानी के अंदर तो पंद्रह पंद्रह बीस बीस पच्चीस पच्चीस तीन देसी घी के हलवे तैयार होते हैं और देसी घी में ही वहां सारा कार्य होता है रोटी भी सब्जी भी तड़का भी जलेबी भी लड्डू भी सब कुछ देसी घी से होती तो बंदी छोड़ महाराज में इतनी शक्ति है कि वो इतना सुख दे देते हैं कि चाहे घी की नदी बहा लो पर हो उस पर पूरी सच्ची लगन तो इस प्रकार धर्म हुआ यज्ञ के जैसे कोई भी यहां बंदी छोड़ के दरबार में आता है तो उसको रोटी तय चाह तय पानी तय बिस्कुट तय हलवे तय प्रसाद तय खीर तय जरूर दिया जाता है इसको धर्म यज्ञ कहते हैं इसको भंडारा भी कहते हैं दूसरा है ध्यान जितनी देर आप यहां आओगे परमात्मा के बारे में आपको जानकारी दी, दी जाएगी आपकी लगन लगेगी और ईश्वर में आपका ध्यान लगेगा धर्म ध्यान हवन हवन आपने देखा कि देसी घी की जोत और वो धूप जग रही है मंत्र सतगुरु की वाणी की ये हवन यज्ञ हुई धर्म ज्ञान हवन की ज्योति जलती और परिणाम जैसे हम आकर लंबी दंडौत करते हैं बंदी छोड़ के नाम दरबार साहब के सामने अपने गुरुजनों के संतों के सामने इसको परिणाम यज्ञ कहते हैं और ज्ञान जैसा कि सत्संग में आपको सात दिन का ये समागम मिला सतगुरु की वाणी के बारे में जानकारी का ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं जिसको जो अखंड चलती रहती है अब सत्संग के बाद भी आप बैठोगे आपस में भक्तों के साथ तो ईश्वर की चर्चा ही चलेगी उस अध्याय में ये लिखा हुआ है फलाने भक्त के ऐसी सुविधा हुई उसने ऐसे दर्शन हुए उसको ये दिखा ये भी ईश्वर की चर्चा ही चलती रहती तो ये पांच यज्ञ सतगुरु की वाणी के अखंड पाठ में हो जाती है फिर कह तीनों ताप वाणी से कट जावे तीन ताप जो होते हैं ये सबसे खतरनाक है देव दैविक दैविक और आध्यात्मिक किसी देव का रुष्ट हो जाना किसी के द्वारा तन में कष्ट पैदा कर देना और किसी का पितर रूस जाना किसी की माता किसी की मसाणी ये जो है ये तीन ताप के अंतर्गत कष्ट किसी देव दूस पर दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं ताप कहें दुख न तो इनका कोई असर नहीं होगा जब बंदी छोड़ की वाणी जिसके घर में हो जाए ना भूत का हो ना प्रेत का हो ना कोई जंतर मंत्र जानता हो तो करके देख लियो जिसके घर में बंदी छोड़ की वाणी होगी उल्टा उसका बक्कल नहीं उतर जाता और हम कोई जंतर नहीं करते कोई मंत्र नहीं करते केवल वाणी का पाठ कर देते तो हम ज्यादा दुखी से तीन ताप की वजह से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर बेल डाल दी जाती है ना वह पीली पीली कर और उस वृक्ष में कति सुखा के खेच कर रख देती है जबकि वो नीचे से पानी भी प्रॉपर ले रहा है खुराक भी मिल रही है धरती से पर उबर नहीं रहा इसी प्रकार ना धन में वृद्धि हो पाती ना शरीर स्वस्थ रहता कोई बीमारी कोई हारी कोई पशु बिगड़ गया क्या के के कुक्रम रहसे और बंदी छोड़ की वाणी करवा लेने से कति स्वर्ग होता चला जाता है पर अगर रह मर्यादा में नो नहीं भाई अपनी मर्यादा भंग कर दे पाठ तक कराए लिया नहीं नियम जो नियम जो के तो रखेंगे तो पूरा लाभ होगा जिन्होंने नियम तोड़ दिए उनका लाभ नहीं होगा तो इस प्रकार फिर कहा कि धर्म आ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और सुर नर मुनिजन भी सत्संग चाह देवता लोग स्वर्ग में पहुंच गए वहां जाए पास पता चला कि यहां तो अपनी देव कट्ट है भाई अपनी कमाई खर्च होती है तो वह नो सोचन से है भगवान एक बार मैंने फिर मनुष्य जन्म मिल जाए मैं डट भक्ति करूं और पूरे संत यानी पूर्ण परमात्मा का जाप करके यहां से पीछा छटवाऊ यहां ते फिर मान बढ़ाई चार अक्षर सीख लिए ज्ञानी हो गया नाम मिल गया गुरु में बना रखा ऐसी बात ना नो नहीं काम चलता दत्तात्रेय ने चौबीस गुरु बना लिए और पच्चीस में बंदी छोड़ मिले जब पांडा छूटा तो थारा कोई आंट नहीं से बदल सकते गुरु को अगर हमारे शरीर को उपलब्धि नहीं होती आपने कोई अच्छा और मिलता है तो बेशक उनसे उपदेश ले लीजिए तो फिर बताया कि झगड़ा चोरी आग लग जावे और नशे बीमारी में धन बहुत नशा है भागवान तो धर्म में लावे वो बीज धर्म का बो है पेड़ धर्म का बो है अब झगड़ा हो जा मुकदमाओं के को करके खुश होया खराब पला हो जाए चोरी का हो जाना आप सत्य मानो रोक के अंदर इधर इशार रोड का ऊपर एक खिता मकान बना रखे अच्छे मुर्बा है उनके पास उन बेचारों ने लड़की की शादी करनी थी और छोरी का सामान आज से दस बारह वर्ष पहले की बात है वो दहेज का सामान ले रखा था और मकान के नीचे रख दिया निचले हिस्से में आप ऊपर रहा करें रहा करते और खेतों में उसकी पछीत लग गई थी यानी पिछला हिस्सा था मकान का तो किसी दुष्ट आत्मा ने आकर ला के पाछ ट्रक और वो काट लेगी सारे फोड़ पाड़ के पाछे मकान अब उन्हें रिपोर्ट कार्ड भी करी ईसा जल्दी कहा कोई पता नहीं चला उसको फिर अपनी को चण चढ़ा कर ठीक कर लिया पंद्रह दिन रह गए जो फेर ले आए तीस चालीस हजार का वो सामान था इतना फेर लाकर वही रख दिया इसी उद्देश्य से कि ये काम के रोज रोज हुआ करे एक बार डूब लिया सो डूब लिया कोई तो दो चार दिन रह लिए ना उस चालीस उतना फेर उन्हों का फेर काट ले गए ये सत्य की बात से हमारे वहां हुआ है हीरो तक के अंदर अब बेचारे तीसरी बार तो जब लाए जब वो उन्होंने लड़की का जिस दिन फेरे देने थे उस दिन इकट्ठे करके लाए तो महाराज के झगड़ा चोरी आग लग जावे और दारू पीण लाग जा कोई बीमारी हो जा वहां पैसे ला जाएंगे और महाराज ठीक कर दे सारा सुख दे दे फिर भी नो रुचि नहीं बनती जहां दस रुपये दान न बुला जा ये हमारे अंदर वह वीकनेस जो कमजोरी से इतना घर कर चुकी है कि तेरा नाश हो जाए और धर्म तो आज तक किसी का नाश नहीं हुआ बिरा नाश तय कंजूसी तो है कबीर साहब कहते हैं चिड़ी चौंच भर लेगी नदा ना घटियो नीर और भी दान दिए धन ना घटे नो कह रहे साहिब कबीर प्रमाण कह लाग धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग और खैर आए तो खैर है कीजिए आत्म पुरख तो हमने धर्म की रुचि ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जब हम कामयाब होंगे और बाकी नो ज्ञान होते हुए कि हमारे साथ कुछ नहीं चले चले धर्म और दान और नाम फिर भी हम उड़गे रहने से कंजूसी में चले आप पंजाब में जाकर देखो कितने प्रफुल्लित लोग हैं कितने वो धनाढ़ हैं क्यों है कि उनकी दान की नीत ज्यादा से जहां देखोगे मंदिर इतना बड़ा बना देंगे और भंडारा होगा सारा गांव जाओगा चाहे दो दस रुपये चढ़ाकर और वहां हमने देखा पचास क्या उन तक घाट कोई नहीं चढ़ाओगा कोई भी सौ तो ऊपर ऊपर सौ के सौ मतलब आप तलवंडी महाराज का पाठ किया ना गए हुए थे उसने बड़े महाराज का तो बात यह है कि उनको पता चल चुका है कि बिना दिए नहीं मिल सकता उनके किसी का कि मैं चल रहा सेलर चल रहा है किसी फैक्ट्री हो रही कोई काराम चला तो वो कहे इनने की दिया उस इनका दिया बोआ सा बोआ शाम था अपना बोआ सा इतने उनको ज्ञान हो चुके तो बात सत्य एक बंदा ने धर्म करे था और जोड़ दुष्कर्मा धन जोड़ धरे था और कोडी होकर जब वो मरा था फूट फूट करो <clears throat> या रोहतक में बताऊं एक बावरा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उस समय आज से चालीस साल पहले की बात बताते हैं एक भगत बता रहा था कि मैंने आख्या देखी वही रहता उसका मकान है वो आज से तीस चालीस साल पहले पांच रुपए इंजेक्शन के लिया करता पांच रुपए और जो कि उस समय मेरे ख्याल में दस पीसा गाया करता और बहुत पैसा भी हो गया कोठी बना ली आखिर में उसका इतनी तकलीफ हो जाती है कोई आराम नहीं हुआ और क्या हुआ कि तीन साल तक भुगत के कीड़े तक पड़ गए थे उसका जम रहा रूके मारा करता ना गांव आप दोहरे का कोई निकलता ना गली में कह उसका भी कालजा खड़ा हो जाया करता कि कौन डिडावे से भाई नो कहा दो फलाना डॉक्टर तो भाई महाराज कहते हैं कि एक बंदा ने धर्म करे था दुष्कर्मों से धन जोड़ रहे था और कोडियो का जब वो मरा था भाई फूट फूट कर होगा सतगुरु की वाणी बड़े भागवान घर आज इसका प्रमाण है कि बंदी छोड़ की वाणी हमारे पास महीने में पच्चीस तीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस अट्ठाईस अट्ठाईस पाठ हो रहे हैं जो कि तीन दिन में होता है एक पाठ और जुलाई अगस्त तक हमारे पास कंप्लीट बुक हो चुके हैं तो इस प्रकार इसका प्रमाण यह है कि इतना सुख है गणादेश है इसकी देरा नहीं था हमने कि ये इतनी बड़ी अब इसमें देखो गीता के पाठ से हम लाभ चाहें रामायण का पाठ करवा लेते हैं भागवत का करवाते इसमें सारे वो पाठ हैं रामायण चारों वेद छह शास्त्र अठारह पुराण ग्यारह उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और भाई मुसलमान भी जो आसरा ले रखे हैं वो भी इसमें से वो सब का कंबाइंड लाभ तक कथाएं तो जैसे फिर रहा नाम और सुमन वो हम सत्य और सच्चा देते हैं हमारे जीवों का उद्धार होता है बोल बंदी छोड़ मारा सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख बंदी छोड़ सतगुरु महाराज गरीबदास जियों की अमृतमय वाणी के खुलासे का आज ये छठा दिन है आपने अब तक जो जानकारी हुई वो कुछ विस्मय यानी अद्भुत सी होगी जो नए भक्त आए होंगे उन्होंने बहुत शुरू शुरू में तो ऐसा लगा होगा कि कहीं ये गपौड़ तो नहीं पेल रहे पर जब हम इस ज्ञान को गहराई से में जावांगे तो उस समय हमें अपने आप ये महसूस होगा कि झूठ तो हमें अपने जो अज्ञानता के कारण महसूस हुआ थी यथार्थ ज्ञान है अब प्रथम तो हम राम नाम लेना नहीं चाहते और लेते हैं तो फिर नो काम तक ग्रह बैठ कर वजन कर लिया करा किसी की आत्मा दुखान नहीं बस या है और के बदन हो श्रेष्ठ नारा ये तो एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करे लेकिन खेत समार के छोड़ दिया और उसमें कुछ बोया नहीं तो उसका कोई काम आप नहीं उठा सकते कोई लाभ नहीं दे सकते तो हमने कई भाई तो कहे हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं बंदी छोड़ गुरु को बहुत महिमा देते हैं कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान और गुरुबिन दोनों निष्फल हैं भाई पूछो वेद पुरा फिर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पा बलिहारी गुरु अपना दिन गोविंद दिए मिला वो तो ये कहते हैं कि गुरु से भी ज्यादा पूज ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय गुरु है और जो भाई लोग कहते हैं कि हमने गुरु की आवश्यकता नहीं वो कति भूल में है और पूरे गुरु बिना काम नहीं चल हमारे कबीर पंथ में गरीबदास हमारा कबीर पंथ है पंथ माने वो रास्ता जो सतगुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया उसको पंथ यानी रास्ता कैसे अब जिस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने उत्तराधिकारी समझो अपने अनुयायी समझो जैसे धर्मदास जी को गरीबदास जी को गीसा साहब को नानक साहब को दादू साहब को इन सब को बताया कि भाई ये नाम जप्या करो और अपने अनुयायियों को इस नाम का नाम का जा बताओ अब जैसे हम कहते हैं सत साहेब ये नाम जपण का नहीं है ये तो हम इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा सत्य है बाकी सब झूठ है कौन सा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष सत्य जो कभी नष्ट ना हो उसको सत्य कहते हैं और साहेब कहें परमात्मा को वो सच्चा परमात्मा जो कभी नाश में नहीं आता बाकी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सत साहेब नहीं लगा क्योंकि ये नाशवान है समय आने पर अपना समय भी ये लोक भी खत्म हो जाएंगे और ये खुद भी चले जाओ तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि सच्चे नाम का जाप पूरे गुरु को मिला है हमारे कबीर पंथ के अंदर भी वो नाम नहीं चल रहा जो कि बंदी छोड़ना मार्गदर्शन कर रखे है और चल रहा है तो अधूरा चल रहा है जैसा कि आप सुनते हो प्रतिदिन के राग होरी में आपको सुनाएंगे उसमें लिखा है बंदी छोड़ने के ओ हम सोहंग पाल रंग होरी हो और भाई चौदह भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी ये ओहंग सोहंग का जो मंत्र है हम देते हैं बंदी छोड़ देते कि नाम इसमें लिखा हुआ है ये भी मतलब नाम पूरे गुरु से मिला है तो जानकारी होगी कि ओम सोम है उससे भी उस जीव ने कति लाभ नहीं होगा जैसे अब अफसर लगता है कोई नौकर लगता है सब न बेरा है नौकर लगे हैं नौकरी प्राप्त होती है अपने आप कर लो प्राप्त जानकारी तो है पर जो लगाने वाला है ना वो दस्तक करके दे देगा उसके ऊपर हाँ you are hereby appointed for the post of और आपको इतना इतना वो क्रेडिट होगा इतने दिन के बाद रिटायर होगे और नीचे अपने दस्तक कर देगा तो उसको वो लाभ पूरा मिलेगा और उसी तरह के अक्षर वो भी याद कर ले और भी अर्चे सौ कागज लिख ले पर उसको वो लाभ नहीं दे सकता किसी को भी आप भी नहीं दे सकता इसी प्रकार जानकारी कोई और चीज होती है उसकी उपलब्धि कोई और चीज होती है इसके बाद एक नाम और है जिसको सार नाम का सार नाम का रोला और सार नाम से फिर सार शब्द उत्पन्न होता है धुन उत्पन्न होती है वो सार धुन यानी सार शब्द भी गुरु से प्राप्त होती है तो प्रथम तो हम राम नाम नहीं लेना चाहते और नाम ले लेते हैं तो फिर नो कहें गुरु तो होना चाहिए नो कह रखा गुरु तो बस और कितत नाम ले ले वो बात ठीक से नहीं नाम भी ठिकाने का हो गुरु भी उसके अधिकार हो नाम लेने का जब उसको लाभ होता है अब हम सबसे पहले आपको किन किन ने गुरु की आवश्यकता को समझा और जब उन्होंने भी गुरु बनाया तो आप और हम कौन से खेत की मूड़ी हैं कि गुरु के बिना पार हो जावांगे ये आपको जानकारी दी गुरु विहीन नहीं बातारे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता हरि को गुरु विहीन नहीं बातारे रे हरि को गुरु भी भाता बिना गुरु के मोक्ष नहीं रे संतन देई गो गवाई बिना गुरु के मोक्ष नहीं संतन देई गवाई दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतलाई दान धर्म तप योग उपासना जो करते हैं चतला अपूतर गुरु विहीन कहाव रह किसकी शरणाई गणिका पुत्र गुरु विहीन कहाव रह किसकी शरणाई नाम बंदगी भजन कमाई गुरु विहीन नहीं पाता रे अरि को गुरु विहीन नहीं पाता अरि को गुरु विहीन नहीं पाता रे अरि को गुरु विहीन बिना गुरु का परमात्मा ने भी नहीं सुनता भाता यानी अच्छा नहीं लगता नारद मुनि बहु तप कीन्या रहा गुरु बिन खाली नारद मुनि ने बहु तप की रहा गुरु बिन खाली बाद बाद बहुत सा कीन्या पेश एक ना चाले बाद बबाद बहुत सा किन्या पेश एक ना चाले कालू जी मर कुरो करो न ऋषि जी भगति बण निराली कालू जी मर गुरु करो ऋषि जी भक्ति बण है निराली बिना गुरु के नरक का भागी खुद ब्रह्मा समझाता हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे हरि को गुरु भी अरि को गुरु विहीन नहीं बात रे अरि को देव गुरु विहीन फिर था तप के तेज भुलाया सुखदेव गुरु विहीन फिर था तप के तेज भुलाया मुझ सम और नहीं सह जग में योगी भरम भोल भरमाया ओज सम और नहीं है जगम योगी भरम भूल भर माया काग भूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया काग भूषण रे नारद जी ने तरह तरह समझ मुक्ति ही तेरी ही जनक के दुआर नो विष्णु सुल जाता अरि को गुरु विहीन नहीं हरि को गुरु विहीन नहीं बाता हरि को गुरु आकर्षण जी ने गुरु दुर्वा सा कीना नेक शर्म नहीं कीता करसन जी ने गुरु दुर्वासा ना नेक शर्म नहीं कीता ज्ञान गुरु संदीप नहीं पाया जब कथी ज्ञान की गीता गुरु ज्ञान गुरु संदीप नहीं पाया जब कथी ज्ञान की गीता बिना गुरु के जो जग से जावे रह रीते कारिता बिना गुरु जो जग से जाता रह रीते गुरु की महिमा अपरम पारा गुरु मोक्ष के दाता अरि को गुरु विहीन नहीं बा हरि को गुरु में हरि को गुरु में मीरा बाई गुरु विहीन रहती किन्नी खूब कमाई मीरा बाई गुरु विहीन रहती किन्नी खूब कमाई मुक्ति हुई ना युक्ति पाही संग थे कैरसन राय मुक्ति हुई ना युक्ति पाही संग थे कैरसन राय संता के संता के सतसंग में जाकर ये बात समझ में आई संता के सतसंग में बात समझ में गुरु रवि दास की शरणा पाई जब खुला मुक्ति का खाता रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या रामचंद्र अवतारा वशिष्ठ मुनि के चरण ला रामचंद्र अवतार कह राम चंद्र तिर भवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा राम रामचंद्र तिर भवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो हारा अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो हारा गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चतलाता हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे हरि को बाता हरि को गुरु विहीन अंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी मृत लोक में आया अंत कोट ब्रह्मंड का स्वामी मृत लोक में आया सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जुलाया लोक राजधानी जिस नाम कबीर जोला रामानंद कर्म कांड में ओलझा शिष के सोल जाया रामान कर्म कांड में और जास से हो जाया ना जन्म ना मर वो दाता सो सत गुरु कहलाता अरि को गुरु विहीन नहीं अरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बात रे हरि को हाँ धनी ना पसूर है वो दर दर धके खावे धनी ना पसूर है वो दर दर धक्के के खा भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट कष्ट उठावे भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट कष्ट उठा जब वो पशु धनी कारी जा सब चिंता मिट जावे जब वो पशुधनी का हो जा सब चिंता में वह बड़ भागी अब गुरु की शरण में वो जामण मरण मिटा तारे हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बात रे हरि को राम देवानंद मिले गुरु पूरे राम भजन लो लागी राम देवानंद मिले गुरु पूरे नाम भजन लो लागी असंख जन्म की ही बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी असंख जन्म की ही बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी राम पाल वो है बड़ भागी जिसका होया पूरे गुरु से ना तारे हरि को गुरु भी हरि को गुरु विहीन नहीं पाता रे हरि को अब देखो ये सतगुरु गरीबदास जी महाराज के अनुसार ही वाणी है इन्हीं की वाणी से और सब शास्त्रों का प्रमाण है इसमें कि जिस प्रकार बिना गुरु के से कितनी कमाई कर ले कितना धर्म कर ले दान कर ले पर मनुष्य जन्म और मुक्ति नहीं हो सकती अब कई भाई धर्म करते हैं तीर्था बजा कर दान भी करते हैं खूब पर गुरु नहीं है और भी ठिकाने का नहीं है तो उससे क्या उपलब्धि होगी जिस प्रकार आपने देखा होगा कई कुत्ते कारों में चलते हैं और राष्ट्रपति के घोड़े जिनको दिन में तीन तीन बार डॉक्टर चेक करके जाता है और नवाए जाते हैं मालिश की जाती है खाने को काजू और किशमिश तक भी उनको कभी कभी डाल दिए जाते हैं बहुत अच्छा स्वच्छ आहार दिया जाता है वो पशु पिछले जन्म में बहुत बड़े दानी और शुभकर्मी रहे हैं जो कुत्ता कार में चलता है उसको ऐसी सुविधा मिलती है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी खूब होती हैं जो कि बीमार हो जाए तो मनमाना चाहे डॉक्टर पांच सौ रुपये ले जाए वो सेठ या वो अफसर जिसके घर में है उसकी पूरी मदद करेगा और खूब उसको भोजन भी दूध भी आराम से उस कोठी में बैठे हुए को मिलेगा और कारों में ले जाते हैं घुमाने के लिए तो कार में साथ बैठ कर जाता है अब उस अनजान ने यह ज्ञान नहीं हुआ कि थोड़ा सा नाम भी किसी पूरे गुरुत ले लेता तो वही सुविधा मिलती जो कि आज वो कोठी और कार तथा अच्छी भोजन सुविधा पा रहा है पर जन्म मनुष्य का हो जाता है इतना अंतर हुआ बिना नाम के जो दान धर्म किया गया फल अवश्य मिला पर मेरा बहुत बुरी तरह मिला पशु जुनी और वो सुविधा मिल गई और इतना सुख होता कि मनुष्य न मिल जाता अब कहते हैं बिना गुरु के इतना संज्ञा दी है सतगुरु ने कि गण का पुत्र गुरु विहीन कहा वह रह किसकी शरणाई और भाई नाम बंदगी भजन कमाई गुरु विहीन नहीं पाता अब वैसा का लड़का हो जा तो वो कृष्ण बाप का है कौन उठता है उसने इसी प्रकार महाराज के बिना गुरु को जो जी फिरता है उसका वहां पर कोई ठिकाना नहीं होगा अब जैसे हमारा कितना रिश्तेदारी है कहीं जान पहचान से तो हम बैठ दे ही वहां चले जाएंगे उस गांव या शहर में जान पहचान नहीं हो तब ना मुश्किल हो जा पहाड़ तो भारी तो इसी प्रकार जब हम यहां से जाएंगे जान तो पहले हमने नो ज्ञान हो जाना चाहिए मेरा ठिकाना कहाँ होगा किस लोक में जाऊंगा वहां पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा आपको जितने जी अगर यू पेटा नहीं भरा तो आपकी भक्ति निष्फल है कतई तो यहां फिर कहा कि नारद मुनि जी ने बहुत तप कीन्या रहा गुरु बिन खाली अब ये कई वहां ये प्रमाण दे हैं कि बेला गुरु की साय हो गुरु हो जाना चाहिए जैसे जिमर गुरु बनाया था बला उसने कालू जिमर नारद जी ने और मुक्ति होगी उन अनजानों ने आगे का उसका बेरानी विवरण पूर्ण इतिहास पूर्ण जानकारी कालू जीमर के बारे में नहीं है कालू नाम का एक जीमर था बहुत कुबद्दी था मांस खाता था दारू पीता था और मछलियां पकड़ कर लाया करता था इतना बेसबरा था कि मछली छोड़ी नहीं उसने आसपास के तालाबों में और बीच बीच का अपना दारू पीता कुछ कुंबे का काम चलता एक बार उस आसपास के सब तालाबों में मछली खत्म हो जाती है कहते हैं एक पड़ोसी राजा बहुत धर्मात्मा था धार्मिक था उसने अपने तालाबों से मछली पकड़ने वाले को सजा दंड देने का एक कराख्या था विधान कि जो भी मेरे जोड़ मत पानी को मछली पकड़ लेगा तालाब में तय उसको जो है ना भाई बहुत सजा दी जाएगी तो वह कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था जीवन से नहीं होती थी जब आसपास की मछलियां खत्म होगी तब कालू ने सोची कि रात न मार लेगा अब रात को देर से खुली आंख फिर सोची चल एक दो जाल गिर ले ये घने ना गिरी बखत बखत तो कौन आवे बड़ा देखने खाचर बखते जाकर मुंह देर सी जाल डाल दिया इतने थोड़ा थोड़ा सा झोड़ बड़ा सा हो गया उसमें एक जाल पकड़ था और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी ज्यादा सर्दी नहीं थी वो एक लंगोटी बांध रहा था दाढ़ी बड़ी हुई सर के बाल बूढ़े बूढ़े उड़ज पुड़ज हो रहे और आग बाड़ी थी उसने थोड़ी देर पहले बोझ डेसा की आड़ में शक्कन खाते कि ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह से थोड़ी सर्दी हो जब भी अच्छी लग गया वह आग बुझा दी थी जल्दी से कि कोई देख ना ले एक बोझ डे की आड़ सी में बाड़ी थी इतने में देखा है कि एकदम एक रास्ता हुआ था कच्चा गोर गोंडा रास्ता क्या अगर जिसने तो उसमें देखा कि एकदम वो मोड़ खावा था गोंडा और सामने तालाब के आसपास निकल आवा था जो कि दो दस किले की दूरी पर एकदम देखा है कि घंटी सी की आवाज आई जैसे हाथी की टाल बज जाके और उसने नो देखा सामने तो देखा है कि हाथी की सवारी आने लाग रही है राजा की सवारी आवे हाथी पे और पाचा उसके पचास साठ घोड़े वाले सिपाही सिपुही और मंत्री आने लग रहे घोड़ों पर अब उन्होंने सोचा आज मर गया बेटे पहली ये बार आया था और वो राजा आ गया जिसने पाबंदी ला रखी खुद राजा ही तो जान फांसी देगा तेरे को अब उसने सोचा उसने सारी की सारी मछली तो धका दी जाल भी जोड़ में तालाब में गिर दिया अपने बचन की विधि सोची कि भाग्य काम नहीं चाल है वो जो आग बाल रखी थी उसके वो आगे सामने बैठ गया और सारे शरीर पर राख मछल ली कतीनू हो गया जनो करड़ा महात्मा से और आंख नीच कर बैठ गया उन्हें सोची बचाओ रह गया तो न्यू रह गया अब बादशाह सामने नजदीक से आ देखे है कि भाई पहले तो देखा तालाब है भी इसमें कोई पकड़ तो नहीं रहा मछली बछली खास करी सामने देखा है कि महात्मा बैठा है साधु बहुत तगड़ा तपस्वी दिखा है तो क्योंकि हार्ड कमजोर से और काला सा शरीर सारे तो राख मसल गया रहा धूना धूणा यानी वो आग बाल रखी थी राजा ने सोचिया सत्रिय को सुथरे दिन आया भाई सुबह सुबह और साधु के दर्शन कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बस है सुहाग और दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग कबीरा दर्शन साधु का भाई साहेब आवे याद और लेखे मुआए गिड़ी बाकी के दिन बाद राजा ने सोची बात तो मेरा कौन सा पूर्ण भाग जाग गया मेरा और सुबह सुबह और संत के दर्शन अब वो न देखे कालू अब जहां तेरे का नियामस है तो बच गया नहीं दिखता मड़ी से आंख खोल ले और नो देखा जब नजदीक से आलिए राजा ने अपनी सवारी रुकवाई और हाथी का वाला का पौड़ी सी अतला उतरिया उन्हें सोची आज मर गया बेटे तो करड़ी आंख में इचली कतीनो हो गया सर अग बच गया तीनों तो, तो बेसक बच गया इतना राजा और नजदीक आ गया राजा ने सोची चल चलते चलते साधु से दो बात कर लेते हैं सुबह सुबह चर्चा हो आ गया भाई और उसकी बंदगी गी कई मर गया यानी डरते का न ऊपर चढ़ा ली सांस भी न रोक लिया और नो चढ़ गया ऊपर यानी कुछ पिछले संस्कार भी साथ होते हैं तो उसका जो अपना जो था श्वास ऊपर को खिसकना शुरू हो गया और एकदम स्तब सा हो गया घबरा सी गई राजा ने मत्था टेक्या मत्था टेक कर काफी देर बैठा दो दो चार मिनट तो उन्होंने सोची साधु है साधना कर रहा है बोलिया नहीं करते मन माने कोई दिक्कत ना आ जा भाई ये नाराज हो जा और कदे मुंह मत के मैं काट दे और तेरी बात बिगड़ जा उन्हें सोचा भाई साधु के दर्शन चोखे अपना पांच सात सोने के सरफी उसकी धोने का किनारे बदर कर और चरणा तो दूर ने लंबी डंडो माथा टेक के सदा मुकट और चाल पड़ा राजा चला गया अब उसने इतना भय हो गया कि एक बांख खुली तो मरिया कदे आड़े आसपास कोई छपाई भी ना हो कोई न्यो हो इतना भयभीत हो गया काफी देर बैठा रहा कहते हैं थोड़ा दिन सा निकलाया और वह उसके घरवाली मरी ने सोची कि वो तनु कहता था मैं बखत्ता लूंगा करीबते ही आके दे पकड़ लिया वो कह के गया उस, उस जोड़ पर जाऊंगा तालाब पर वह पहुंची लोकमासी रोटी ले रही जाकर देखा है तो रो बैठा नो अकड़िया उसका कड़म मारी लात न बोली बनाऊ तो ना महात्मा अरे अपना घर नहीं चलता बालक नहीं पालने और उसका न्यू हो गया अगले आज मारा गया था ईब तो बच लिया था वो बच लिया था अरे ईब तो कते नहीं छोड़ने वहां देखा है नो सामने तो वहां खड़ी है भगतनी और हाथी ने राजा कुछ नहीं फिर नीचे नजर गई ताकि तो पांच सात असर पी सोने की जो कि बहुत कीमत हुआ करती इतनी कीमत थी कि मनमाना इतना धन वो गिर गया राजा कि शायद सारी उम्र मछली पकड़ ले तो भी ना उसका काम आवे तुम आ पाओ हो तब तो बोला कि राजा कहाँ गया वह कहने लगी कौन राजा अकनोबली नोबला तोड़ा तोड़ी चाल अड़ित अके बात अकराजा आया था फिर देखा कर अशरफी दरी अब उसके मन में विचार आया कि तुम तो एक नकल करी थी परमात्मा के नाम बजने की और एक राजा ना का तेरा गन्ना माथा रगड़ा और जब भगत जी सच्ची भक्ति कर लेता मन मन किरा की उस दिन तो उसका विचार बदल गया कान पकड़ लिए क्या आज तो चोरी कोई कुछ भी नहीं करूंगा ना चोरी करूंगा ना मछली पकड़ूंगा अपना दो रोटी का साधन करके खाऊंगा और भक्ति करूंगा ऐसा वो कह करके आ गया और भक्तनी ने बोला ले ये सरपी और अपना काम चला आज तो पास यार तो मछली पकड़ देंगे दो चार दिन दस दिन तक तो महीने तरोड़ा रखा कुंबे ने तड़के जाल दे के बेच दे सांझ ने रोटी खाकर घर आ जा सदा नो किनो खाली जाल दे के दो दिन लड़े दस दिन लड़े फिर न बोले भाई बोला नहीं बैठ कर रोन लाग जा घर क्या ने भी महसूस करना बंद कर ऊपर रख घर क्या ने भी ने सोची भाई क्यों गेल पड़ो हो यू खाम खा और किधर जान ना खो दे बालक जवान हो रहे थे अपने थोड़ी बहुत हुआ करने लागे चाहे करो चाहे मत करो और धंधा कर लिया उन्होंने तो वो जाके बाहर बैठन लाग गया और थोड़ा बहुत कितना तो मजदूरी भी कराया हुआ को टोकरी ढोया हुआ जिसा भी था किसी के टोकरे बनाने लग गया एक दिन उसको संत गए संत मिले और देखते हो पाया पकड़ कर बोला मन को रास्ता बता दो मैं बहुत घूम लिया बहुत तंग पा रहा हूं महाराज नाम ने बोला भाई नाम लेना होगा अब नाम दे दो नाम दिया उसने डट का वजन किया वो कालू नाम के संत हुए उसके बाद कालू झीमर के बराबर उस समय संत नहीं था जैसे जनक विदेही के समान त्रेता में कोई भी संत नहीं था गुरु अधिकारी नहीं था सुखदेव जैसे ऋषि ने जो कि शरीर आकाश में चला जाता था इन लोकों में उसने भी राजा जनक से नाम लिए और जब उसका पीछा छूटा योगी होते हुए ब्रह्मचारी होते हुए और भाई बहुत ज्ञानी होते हुए भी जनक विदेही गृहस्थी यानी राजा से नाम लेकर पांडा छूटा उस समय केवल जनक विदेही नाम देने का अधिकारी त्रेता युग में था उसके समकालीन में तो इस प्रकार जीमर को यानी नारद जी को सब ने समझाया कि भाई नाम ले ले उसके पिताजी भी न बोले भाई नारद जी नाम तो काम चल रहा नो बोला जी नाम की क्या जरूरत है मैं अपनी सिद्धि शक्ति से वहां चला जाता हूं ये कर लेता हूं नो बोला बेटा ये दो दिन की से अरे या बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज फिर गधे की जुनीम जागा खुद उसके पिताजी ने इस मार्गदर्शन किया कि नाम बिना काम भी चलेगा ने बोला नाम किसेलों के कालू नाम के जी मरत वह और बात डूबगी पंडित होकर और जी मरत नाम ले ने बोला कम उससे तो चलेगा तो किम में भी कह पहले दिन गया ना मन उल्टा उल्टाया गया दूसरे दिन गया नहीं मन ओटा उल्टाया गया तीसरी बार फिर गया उसका पिताजी ने बोले भाई तेरी शात बोल दे रही है नाम ले ले बोल वाला जा कुछ ऐसा भी कहते हैं कि किसी ने कहा था कि प्रथम जो तेरे सामने आवा पहले दिन उसका नाम ले लिए यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि प्रथम दिन, दिन सुबह सुबह वो स्नान करने गया वही जी काड़ू फिर वह स्नान करके आ रहा था उसके दर्शन हुए उन्हें सोचे जी मेरे तो मैं नाम नहीं लेता दूसरी बार गया वही मिला तीसरी बार भी वही मिला तो फिर आकाशवाणी होती है कि बोल वाला नाम ले लेना तेरी शात बोल दे रही तो नारद जी ने नाम कालू झिमरते ले लिया कालू पीरा बनाया तो यहाँ बात यह है कि हमने कहे हैं नारदिया ने भी तो कालू तो नाम लिया था जी मृत था उस समय वो तत्वदर्शी हो चुका था पर समाज फीत नहीं तार दी थोड़ी सी वो झिमरक है से वो संत थे संत का जात नहीं होती तो यहां कहते हैं कालो कालो जी मर करो गुरु ऋषि जी भक्ति बड़े निराली और बिना गुरु के नरक का भागी खुद ब्रह्मा समझाता उसके पिताजी कहते सुखदेव गुरु विहीन पर था तब के तेज बुलाया और सम और नहीं कोई जग में योगी भ्रम भूल भरमाया फिर काकभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया कि मुक्ति तेरी जनक के द्वार है नो विष्णु सुल जाता समझाता सुड़ हाँ, सुल जाता एक बार गरीबदास जी ने लिखा है कि खुद सुखदेव जी स्वर्ग में पहुंच गए कबीर साहब प्रमाण देते हैं शास्त्र भी देते हैं तो स्वर्ग में जब गए विष्णु लोक में तो कहने लगा उन पार्खतों को कि भाई मैंने स्वर्ग में जाऊंगा वो पहरेदार जो थे वहां के संत ने बोले ना जी स्वर्ग के अंदर वो जा सकता जिसका कोई गुरु हो और विष्णु भगवान आगे हुक्म कर दें कि इसको जान दो ने बोला मेरा संदेशा भिजवा दो विष्णु जी से मैं मिलना चाहता हूँ संदेशा भिजवाया विष्णु जी अपने मकान से बाहर आए महल से कहने लगे आओ जी ऋषि जी काय महाराज सच्चाई करी नमस्कार करी कैसे आए विष्णु जिया ने सबसे पहले यह प्रश्न किया था कि ऋषि जी यहाँ के करण आया और वो जो खुश होकर गए थे विष्णु जी इतना छाती का लाओगे अब इतना बड़ा योगी और मृत मंडल से और योग विधि से आ गया जो बोला यहाँ के करण आया अगली स्वर्ग में रहूंगा अगना स्वर्ग मत तो वो रहेगा जो जिसका कोई गुरु हो नो बोला जी गुरु की क्या आवश्यकता जब मैं यहां आ गया और वो गुरु बना कर आएंगे जैसे पहले भी आपको समझा था कि जिस प्रकार को स्थान स्थानांतरण करवा कर ले जाए अधिकारी यानी कोई कर्मचारी तो चंडीगढ़ रह सकता है बदला बदली करवा कर जावे तो तो उसको लाभ भी मिलेगा नौकरी भी मिलेगी क्वार्टर भी मिलेगा तनख्वाह भी मिलेगी और को चला जा अपने किराए तो ठीक है इतने सौ दो सौ रुपये हो तो चंडीगढ़ जा आ सके ऐसे अरुणा नौका में ताड़े रहूंगा रे जा भाई पर सरकारी क्वार्टर हम नहीं रहने देंगे उसमें और ना वहां दफ्तर में रहने दें ना तनख्वाह मिले तो उस रहने से क्या फायदा होगा तो वह नौ कहेंगे अफसर वहां के एक भाई अपनी बदली करवा कर फिर आ जाए फिर सारी सुविधा दे देंगे इसी प्रकार हम अपने मनमुखी फिरे तो कह न्यू आ रहा सतो नीचे ते परमट लेका है और नाम ले गुरु से नो बोला जी मेरे ना कोई गुरु ना दिखता मेरे बराबर अकिया भी बोल कर रहा बेटा तू ये कह देना पृथ्वी सुनी नहीं होती हर समय हर वक्त में वन संत आते हैं गुरु होते हैं तो उन्हें कहा कि जाकर जनकजीत नाम ले ले अब वो फिर इंद्रपुरी में आ जाता है इंद्रपुरी में वो मेरे कैसे जा रहे हैं वो जान दे उसका आदर करते चादर बिछा दे गद्दी ला दे उन्होंने सोचा जब ये इतना आदर करें तो चौड़ा हो गया फिर उड़ा तन्यो तो बोला कित गए थे ऋषि जी वहां कागभूषण नारद जी और भी बहुत से बैठे हुए थे नो बोला मैं गया था विष्णु लोक में और वहां मैं स्वर्ग में नहीं रहने दिया के बोले नो बोले गुरु बिना नहीं रह सकता तो कागभूषण ने समझाई कि मैं भी नो एक बांडी पाक्या था मेरी भी इसी दुर्गति हुई थी गुरु बिना उत्सव मत का और गुरु बनाकर फिर मर्यादा निभानी भी जरूरी है तो नो बोला वह किसने गुरु बनाऊ अब विष्णु जी ने किसको बताया कि राजा जनक को अब भले पुरुष हे ऋषि जी जब तीन लोग के भगवान मालिक ने खुद कह दिया कि वो तेरा गुरु इस तो बढ़िया और कौन होगा रे जाकर पांव पकड़ ले धन्य बोला अक्चला तो जा पर मन शर्म आवा क्यों अको तो एक गृहस्थी बाल यानी उसका दस हजार रानी और मैं बाल जती ब्रह्मचारी और मैंने आज ही औरत का मुंह भी ना देख लिया और वो गृहस्थी भाई क्यों कर सर दिमा उसका आगे जाके तो सुखदेव नारद जी कागभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्ग की हो जाएगी आप तो शीश निवाण की कोसो गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे ये तो जो क्या पिटास है नाम सर आज ना तक है तो इतनी उसका रड़क बनी फिर अपने पिताजिया के पास आवे है वेद व्यासियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है के सुना है कि न्यू कह है कि गुरु के बिना बात नहीं बने नो बोला भाई किच की तो आया अग भी सुनो भगवान भी नो बोला नो बोला फिर भी क्या की बात देखा रण जान तो के बताया उन्होंने उन्होंने बताया है कि जनक विदेही से गुरु नाम ले ले न बोला गोड़ी ओले और जाके पांव पकड़ बौड़ा और तेरे तो पीछा छूटा सहज में इतना बढ़िया गुरु मिला इस पृथ्वी पर आज के दिन जनक जैसा कोई संत नहीं है इवन सोची वह सारे नोन दकाओं पर जाना ही पड़ेगा तो वहां पहुंच करके जाकर बैठ गया जाकर बैठ गया महाराज जनक जी तो जाने थे सारी कहानी के किस उद्देश्य से आया तो कहने लागे आओ महाराज ऋषि जी आसन दे आसन पे नहीं बैठे तला बैठे जो पहला आसन चाया करता वहां जाकर के उस दिन आसन नहीं चाया तला बैठ गया और वो सारी बात समझ गया उनकी कि इसका मन में नूर न्यू बात से बोला सुखदेव जी बैठ जाओ योगी मैं स्नान कर लेता हूं फिर आपसे बात करूंगा अपनी जो दस हजार में से जो सबसे पटरानी थी वह रानी बुलाई रानी औरत वैसी बहुत नाजुक होश है और बहुत उसने कहा कि मैं स्नान करूंगा पानी ले